अल्लाह चयो तवा पाक ज़मीन चालीह बरह मथुन हराम कई वई आहे ज़मीन यानी बर में हैरान परेशान रहंदा तें करे बेदीन क़ौम ते दुख न कर